لهم और मोमिन लोग कहते हैं कि जिहाद से मुतालिक कोई सूरत क्यों नाजिल नहीं होती लेकिन जब कोई वाजे अहकाम वाली सूरत नाजिल हो और उसमें जंग का बयान हो तो जिन लोगों के दिलों में निफाक का मरज है तुम उनको देखो कि तुम्हारी तरफ इस तरह देखने लगे जिस तरह किसी पर मौत की बेहोशी तारी हो रही हो सो उनके लिए खराबी है खूब काम तो फर्मा बरदारी और पसंदीदा बात कहना है फिर जब जिहाद की बात पुख्ता हो गई तो अगर ये लोग अल्लाह से सच्चे रहना चाहते तो इनके लिए बहुत अच्छा होता فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم أفلا يتدبرون القرآن أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها إن الذين ارتدوا على الشيطان سول لهم الشيطان سول لهم وأملى لهم ذلك بأنهم قالوا للذين كرهوا ما نزل الله سنطيعكم في بعض الأمر والله يعلم إسرارهم सोए मुनाफिको अजब नहीं कि अगर तुम हाकिम हो जाओ तो मुल्क में खराबी करने लगो और अपने रिश्तों को तोड़ डालो यही लोग हैं जिन पर अल्लाह ने लानत की है और इनके कानों को बहरा और इनकी आंखों को अंधा कर दिया है भला ये लोग कुरान में गौर नहीं करते या इनके दिलों पर कुफल पढ़े जो लोग राह हिदायत जाहिर होने के बाद पीठ फेर गए शैतान ने यह काम उनको अच्छा करके दिखाया और उन्हें लंबी उम्र का वादा दिया ये इसलिए कि जो लोग अल्लाह की उतारी हुई किताब से बेजार हैं ये उनसे कहते हैं कि बाज कामों में हम तुम्हारी बात भी मानेंगे और अल्लाह उनके पोशीदा मशवरों से वाकिफ है وكرهوا حسب الذين في قلوبهم مرض أن لن يخرج الله أضغانهم ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول والله يعلم أعمالهم उस वक्त इनका कैसा हाल होगा जब फरिश्ते इनकी जान निकालेंगे और इनके चेहरों और पीठों पर मारते जाएंगे ये इसलिए कि जिस चीज से अल्लाह नाखुश है ये उसके पीछे चले और उसकी खुशनुदी को अच्छा ना समझे तो उसने भी इनके अमाल को बर्बाद कर दिया क्या वो लोग जिनके दिलों में बीमारी है ये ख्याल किए हुए हैं कि अल्लाह उनके कीनों को जाहिर नहीं करेगा और अगर हम चाहते तो वो लोग तुमको दिखा भी देते और तुम उनको उनके चेहरों ही से पहचान लेते और तुम उन्हें उनके अंदाज गुफ्तगु ही से पहचान लोगे और अल्लाह तुम्हारे अमाल से वाकिफ है إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وشاقوا وشاقوا الرسول من بعد ما تبين لهم الهدى لن يضروا الله شيئا وسيحبط أعمالهم يا كفروا وصدوا عن سبيل الله ثم ماتوا وهم كفار ثم ماتوا وهم كفار فلن يغفر الله لهم और हम तुम लोगों को आजमाएंगे ताकि जो तुम में जिहाद करने वाले और साबित कदम रहने वाले हैं उनको मालूम करें और तुम्हारे हालात जांच लें जिन लोगों को सीधा रास्ता मालूम हो गया और फिर भी उन्होंने कुफ्र किया और लोगों को अल्लाह की राह से रोका और पैगंबर की मुखालफत की वो अल्लाह का कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगे और अल्लाह उनका सब किया कराया अकारत कर देगा मोमिनो अल्लाह का हुक्म मानो और पैगंबर की फर्मा करो और अपने अमाल को जाया ना करो जो लोग काफिर हुए और दूसरों को अल्लाह के रस्ते से रोकते रहे फिर काफिर ही मर गए अल्लाह उनको हरगिज नहीं बख्शेगा فلا تهنوا وتدعوا إلى السلم وأنتم الأعلون والله معكم ولن يتركم أعمالكم إنما الحياة الدنيا لعب ولهو وإن تؤمنوا وتتقوا يؤتكم أجوركم ولا يسألكم أموالكم إن يسألكموها فيحفكم تبخلوا ويخرج أضغانكم ها أنتم هؤلاء تدعون لتنفقوا तो मुसलमानों तुम हिम्मत न हारो और दुश्मनों को सुलह की तरफ न बुलाओ और तुम ही गालिब रहोगे और अल्लाह तुम्हारे साथ है वो हरगिज तुम्हारे अमाल को कम और जाया नहीं करेगा दुनिया की जिंदगी तो महज खेल और तमाशा है और अगर तुम ईमान लाओगे और परहेजगारी करोगे तो अल्लाह तुमको तुम्हारा अज्र देगा और तुमसे तुम्हारे माल तलब नहीं करेगा अगर वो तुमसे माल तलब करे फिर तुम्हें तंग करे तो तुम बुखल करने लगो और वो बुखल तुम्हारे कीने जाहिर करके रहे देखो तुम वो लोग हो कि अल्लाह की राह में खर्च करने के लिए बुलाए जाते हो तो तुम में ऐसे शख्स भी हैं जो बुखल करने लगते हैं और जो बुखल करता है अपने आप से बुखल करता है और अल्लाह बेनियाज है और तुम मोहताज और अगर तुम फिर जाओगे तो वो तुम्हारी जगह और लोगों को ले आएगा फिर वो तुम्हारी तरह के नहीं होंगे